ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वासि प्रतिष्ठितम् प्रथम में अवतरण भाष्य पर विचार चल रहा है पूर्वादि ने कहा तीन आत्मा है आपने इस प्रकरण का तात्पर्य निकाला एक ही आत्मा है आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी वस्तु नहीं सारा संसार कल्पित है वह आत्मा में अध्यस्त हुआ आरोपित है ऐसा कहा किंतु आत्मा तो तीन है एक जीवात्मा है एक ईश्वर आत्मा है एक निर्गुण निराकार आत्मा है तो तीन तीन आत्मा है तो एक ही आत्मा कैसे बोला आपने ये पूर्वादि ने पूछा तो श्री ने कहा तीन में से पहले जीव की सिद्धि करो जीव जीवात्मा कैसे कैसे पता लगता है जीवात्मा का किस ज्ञान से जानते हो जीवात्मा है क्या किस प्रमाण से जानते हो तो उसने कहा <clears throat> दृष्टा श्रोता मनता इत्यादि से देख रहा है सुन रहा है जो देखने वाला आत्मा है सुनने वाला आत्मा है चक्षु के द्वारा देख रहा है सुन रहा है तो सिद्धांत ने कहा भाई आप दृष्टा श्रोता से मानते हो श्रुति ये भी बोलती है ना अमतो अभिज्ञात इत्यादि श्रुति है वो मन का विषय नहीं होता ज्ञान का विषय नहीं होता ऐसा भी तो श्रुति बोल रही है कैसे जानते हो तो प्रश्न आएगा तब कहता है कि विरोध तभी होता दृष्टा के साथ में अभिज्ञात हो अमता के साथ विरोध तब होता यदि एक ही ज्ञान का विषय होता वो जो निषेध किया है अमता आदि प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं किंतु दृष्टा श्रोता बोला है अनुमान से ज्ञान होता है अनुमिति का विषय बनता है जब दर्शनादि क्रिया हो रही है इसी को हेतु बना करके दर्श देखना सुनना आदि हो रहा है दर्शनादि क्रिया सकर्तिका क्रियावा छिड़ी क्रियावत ऐसा अनुमान होगा दर्शनादि जो व्यापार हो रहा है देखना सुनना आदि हो रहा है ये कर्ता भी सहित है बिना कर्ता का दर्शनादि होना संभव नहीं हाँ, क्यों क्रिया है वो जहां जहां क्रिया होती है वो कर्ता के सहित होती है बिना कर्ता के क्रिया नहीं होती जैसे लकड़ी कटती है तो खाली पुलाड़ा काटने पाता वहां करता है उसको उठाने वाला पटकने वाला व्यक्ति है तभी लकड़ी कटती है तो ये देखना आदि व्यापार भी जो क्रिया है तो क्रिया होने से जहां क्रिया होती है कर्ता सहित तो आत्मा करता है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व से आत्मा की शक्ति होती है दर्शन आदि क्रिया को लेकर के अनुमान से ज्ञान होता है दर्शन आदि क्रिया प्रत्यक्ष हो रही है और आत्मा का ज्ञान अनुमान से होता है ऐसा पूर्वाद ने कहा सिद्धांत मत में यह है आत्मा किसी प्रमाण का विषय नहीं है स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रमाणित है वो स्वसत्तायाम स्वयं प्रमा ऐसा कहा है अपने अस्तित्व में स्वयं प्रमाण है किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं अपने लिए अन्य वस्तु की सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता है चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण हो चाहे अनुमान हो उपमान हो शब्द हो अनुमति अर्थापत्ति कोई अन्य सिद्धि के लिए अपने सिद्धि के लिए स्वयं स्वयं प्रमाण होता है तो अन्य वस्तु की अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं सिद्धांत मत यह है इसी को सिद्ध करना है स्वयं प्रकाश है सिद्ध करना है किंतु अभी तर्क चल रहा है उसके निष्कर्ष वही निकालना है अपने अपने सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पूर्वादि ने कहा आत्मा अनुविधि ज्ञान का विषय है जो क्रिया दर्शन आदि क्रिया हो रही देखना सुनना आदि व्यापार चल रहा है कर्ता के बिना हो नहीं सकते हैं उसके द्वारा कर्ता का अनुमान होता है जैसे दूर देश में धूम को देखते हैं तो अग्नि का अनुमान होता है ज्ञान होता है एक ज्ञान से दूसरे का ज्ञान होता है प्रत्यक्ष होता है धूम और अनुमिति बने का ज्ञान इस प्रकार यहां भी प्रत्यक्ष है दर्शनादि क्रिया और अनुमिति है आत्मा का ज्ञान ऐसा कहा तो सिद्धांत ने कहा पूछ कहा कि भाई एक काल में दो ज्ञान कैसे होगा जब आपके चक्षुरादि आपका जो मन होगा वो तो क्रिया में व्याप्त है तो आप अनुमिति कैसे होगी प्रत्यक्ष काम में व्याप्त होगा अनुमिति कैसे होगी तो आदि ने कहा नहीं हो जाएगा तो सिद्धांत ने कहा कि दो ज्ञान एक काल में हो नहीं सकता एक काल में एक ही ज्ञान होगा नहीं आए कि नहीं भी ऐसा कहा योग ज्ञान अनुपत्ति मनुष्य लिंगम अगर मन न हो नहीं होता तो सभी इंद्रियों के द्वारा सभी विषय सामने होने पर सभी इंद्रियों के द्वारा एक साथ ज्ञान होना चाहिए क्योंकि एक साथ ज्ञान नहीं होता देखना सुनना आदि भिन्न भिन्न काल होता है क्षण भेद से ज्ञान होता है मन जिस इंद्र के साथ साथ देता है उसी इंद्र का विषय का ज्ञान होता है मन है जब मन चक्षु के साथ है तो सुनना बनता नहीं श्रोत्र के साथ है तो देखना बनता नहीं एक, एक साथ सभी इंद्रियों में जन्य ज्ञान न होना ही मन है करके सुना तो <clears throat> एक साथ दो ज्ञान हो नहीं सकता सिद्धांत ने कहा पूर्ववादी बोलता है कि नहीं जो प्रत्यक्ष वो प्रत्यक्ष हो रहा है उसी के द्वारा इसका भी हो जाएगा सिद्धांत कहा एक साथ दो ज्ञान नहीं हो सकता तो पूर्वादि एक तर्क देना चाहता है वह प्रत्यक्ष एक काल में भिन्न काल में होता है पूर्व काल में हेतु दर्शन और उत्तर काल में अनुमिति एक काल में नहीं है ये पूर्वादि कहना चाहता है सिद्धांत ने कहा कैसे होगा प्रत्यक्ष भी हो और अनुमति भी हो एक काल में दो ज्ञान कैसे करोगे तो पूर्वादि ने कहा ये टीका चल रही थी नौनो मननादि क्रिया ही लिंगम आत्मदर्शन के लिए हेतु होते हैं मननादि मन में व्यापार हो रहा है चक्षु में व्यापार देखना सुनना मनन करना व्यापार हो रहा है तो व्यापार बिना कर्ता का नहीं होता तो करता है ये व्यापार करने वाला जो व्यक्ति होगा इनके द्वारा व्यापारी जो होगा वो आत्मा है ये ज्ञान होगा बोलना चाहते नानो मनादि क्रिया ही लिंगम हेतु है मननादि जो क्रिया है व्यापार है वही आत्मा साक्षात्कार का हेतु होता है आत्मा की अनुमति में हेतु है न तो लिंगम करणम लिंग को हेतु नहीं माना है करण नहीं माना है असाधारण कारण करणम अनुमति के प्रति लिंग ज्ञान मान हेतु ज्ञान को कारण नहीं माना है क्यों अतीत लिंगे ना अनुमति दर्शनार्थ अतीत हेतु के द्वारा आज सामने हेतु है नहीं वैसे पूर्व में था ऐसे हेतु से भी ज्ञान होता है जैसे यज्ञशाला आदि में धुआं का काली देखा काला काला देखा वो काल काली माँ के द्वारा अनुमति होती है पहले यहाँ यज्ञशाला थी अग्नि थी यहाँ उस धूम के चिन्ह जो कुछ बचे हैं काली माँ है उस काली माँ को देख करके भूत अग्नि का ज्ञान होता है पूर्व में अग्नि थी ऐसा ज्ञान होता है अथवा धुआंदानी को देख करके यज्ञशाला बनाया भी नया है भावी धूम के द्वारा भावी अग्नि के ज्ञान हो रहा है ये पंडिवती भविष्य की आगे अग्नि वाली होगी उसकी चिन्ह दिखाई दे रहा धुआं जाने का चिन्ह दिखाई दे रहा उसके द्वारा भावी अग्नि का अनुमिति होगी ऐसा कहता है तो वर्तमान में हेतु होना कोई आवश्यकता नहीं अनुमिति के लिए गुरुवादी ने कहना है न तो लिंगम करणम अतिथ लिंगे ना भी अनुमित कहा लिंग ज्ञान कारण नहीं हेतु ज्ञान हेतु कारण नहीं है अतीत हेतु के द्वारा भी अनुमिति देखी गई है किंतु लिंग ज्ञानम कारण किंतु अनुमिति के प्रति असाधारण कारण क्या होता है लिंग ज्ञान मान हेतु का ज्ञान हेतु का ज्ञान कारण है असाधारण कारण है लिंग नहीं न तो अनुमति अनुमिति है सत्य नियम हेतु का ज्ञान तो कभी भी हो सकता है अनुमिति काल में होना कोई नियम नहीं इसलिए समकाल में दो ज्ञान नहीं रहेगा पूर्व काल में हेतु का ज्ञान उत्तर काल में अनुमिति हो जाएगी ऐसा पूर्वादि कहा जाता है न तो तस्यापि हम निकाले शब्द नहीं तस्यापि हमारे उस लिंग ज्ञान का भी अनुमति काल में होना कोई नियम नहीं कहा सूचित विरुद्धम भक्ति पूर्वादि ने जो विरुद्ध कहा था एक काल में दो ज्ञान कैसे होगा तुम्हारे उधर हेतु का ज्ञान होना इधर आत्मा का अनुमिति होना कैसे होगा तो वो भिन्न काल बनाने के लिए वो बोलना चाहता है भिन्न काल के लिए कहा पूर्वक्षण सत्व मात्रेण कर्णत्व उपत्ते कहा पूर्वक्षण होने मात्र से तो असाधारण कारण करण बन जाएगा ये पूर्वादि कह रहा है उपत्य तो रीति तयोर योगपत्या भावी भी एक साथ न होने पर भी हेतु का ज्ञान और अनुमिति एक साथ नहीं पूर्व काल में हेतु ज्ञान उत्तर काल में अनुमिति तयोर योगपत्या भावे भी अनुमिति ज्ञान और करण ज्ञान एक साथ न होने पर भी न दोष है कि जब कोई दोष नहीं है ऐसा पूर्वाज ने कहा तो सिद्धांत कहेंगे अनावट कहेंगे तयोर योगपत्या भावी तीन नंबर चित्र में कहा पूर्व ज्ञान से उत्तर ज्ञान नाश्यत्व उत्तर उत्पत्ति क्षण स्थिति अंगीकारा इधम अपर सिद्धांत के एक वर्ष यहाँ एक दूसरे विरुद्ध हो जाता है क्या होता है पूर्व क्षण में वो बोलता है हेतु का ज्ञान है कर्ण का ज्ञान है उत्तर क्षण में अनुमिति होगी किंतु पूर्व ज्ञान का नाश होगा उत्तर ज्ञान के द्वारा आत्मा में रहने वाले जो विशेष गुण होते हैं उत्तर गुण के द्वारा पूर्व गुण का नाश मानते हैं आत्मा में रहने वाला विशेष गुण उनमें से यहाँ ज्ञान है दोनों विशेष गुण में है अनुमिति ज्ञान भी ज्ञान है और कर्ण के ज्ञान भी ज्ञान है तो पूर्व क्षण वाले ज्ञान के नाश के लिए उत्तर क्षण वाला ज्ञान आना चाहिए उत्तर क्षण ज्ञान आते समय में पूर्व ज्ञान का वृत्ति क्षण उसके दूसरा क्षण रहेगा रहेगा वो उत्तर क्षण वाला ज्ञान जिस काल में पैदा हुआ उस काल में कुछ काम नहीं कर सकता दूसरे काल में काम करेगा तो तीसरे काल क्षण में जाकर के उसको नाश करेगा तो उत्तर ज्ञान उत्पन्न काल में पूर्व ज्ञान भी है उत्तर ज्ञान भी है दोनों ज्ञान रहेगा कारण का ज्ञान भी है अनुभूति ज्ञान भी है ये सिद्धांति के दोष यहां विरोध यही है एक टिप्पणी कर रहे हैं पूर्व ज्ञान से उत्तर ज्ञान नाश पूर्व ज्ञान का नाश उत्तर ज्ञान से होने से उत्पत्ति उत्तर उत्पत्ति क्षण है उत्तर ज्ञान के माने अनुविध ज्ञान उत्तर क्षण में होना है उस उत्पत्ति काल में स्थिति अंगीकार पूर्व ज्ञान उस काल में है इसलिए दो ज्ञान एक साथ हो रहा वहां भी ऐसा मानने पर भी इति अंगीकारात इदम अपरम विरुद्धम सिद्धांति के मत में यह दूसरे ही विरोध आ जाता है योगपत्य अभी भी है कहना चाहते हैं तो पूर्वादि ने कहा नहीं योगपत्य अभाव भी न दोषा बोला योगपत्य न होने पर भी कोई दोष नहीं तो सिद्धांत का न दोष है श्रवण मननादि लिंग विज्ञान से साक्षी रूप से स्वरूप विशेषाभाव न श्रवणादि निर्मित से नैव तस् अनुभाव से वक्तव्य तत्सत्ताया भी वक्तव्यत्व विधान सिद्धांत बोलते हैं वहां आप ऐसा नहीं कह सकते पूर्व क्षण में हेतु का ज्ञान है उत्तर क्षण में अनुमित ज्ञान नहीं बोल सकते श्रवण मननादि लिंग विज्ञान है श्रवण मनन आदि लिंग के द्वारा ज्ञान के द्वारा आप आत्मा की अनुमति करना चाहते हैं सर्वाधिक क्रिया हो बन रही हो रही है इसलिए आत्मा है तो ना कहीं भी क्रिया देख करके कर्ता का अनुमान होता है देखने वाला सुनने वाला आत्मा है कहना चाह रहे हो तो सर्वाधि सर्वमनादि जो लिंग है हेतु है उसको विज्ञान के माध्यम से साक्षी रूप से स्वतो विशेषाभाव उसके द्वारा साक्षी आत्मा में कोई विशेष नहीं आता है सर्वणादि के द्वारा कोई विशेष नहीं आ सकता है श्रवादि निर्मित बसे नहीं तस्य अनुवापकत्व से उस स्थिति में श्रवणादि के द्वारा ही आत्मा की अनुमिति मानना होगा जब तो श्रवण जिस काल में हो उस काल में आत्मा की अनुमिति होगी और श्रवण जिस काल में हो उसमें भी आत्मा की अनुमिति नहीं होगी सुश्रुति में भी विचार हो जाता है श्रवणादि नहीं आत्मा है वहां सुश्रुति काल में हाँ। इसलिए जिस काल में श्रवणादि उसी काल में आत्मा माननी पड़ेगी आपको ये कहना चाह रहे सिद्धांत श्रवण मननादि लिंग विज्ञान से साक्षी रूप से श्रवण मननादि जो हेतु का विज्ञान है वह साक्षी स्वरूप है साक्षी रूप से स्वतो विशेषाभाव है वो विज्ञान साक्षी रूप है स्वयं तो उसमें कोई विशेष है ही नहीं स्वतो विशेषाभाव है ना पात्र टिप्पणी कहा सुसुप्त आदव साक्षी सत्व व्यविचार मन से करता श्रवणादि नहीं है वहां और सुषुप्त साक्षी है विज्ञान है अच्छा इसलिए तत्काले वक्तव्य सतो विशेष विशेषवान श्रवणादि निवृत्त जिस काल में सर्वाधि हो रही है उसी काल में आत्मा का अनुमान अनुमिति होनी ये मानना पड़ेगा आपको ये सिद्धांत कह रहे हैं वैसे नहीं बस तस्य अनुभाव करता हूँ साक्षी अनुभाव करता उस आत्मा का अनुमान अनुमान करना चाहिए वक्तव्य यही है तत्सत्ता या भी तत्काल से इसलिए क्या होगा उस हेतु का अस्तित्व भी उस काल में मानना पड़ेगा सर्वाधि को मानना पड़ेगा उस काल में जिस काल में आत्मा है उस काल में श्रवणादि है तत्सत्ता मैंने सर्वराधि की सत्ता भी छह नंबर टिप्पणी में कहा निरूपक श्रवणादि सत्ता है जिसके द्वारा आत्मा का निरूपण करना है वो निरूपक है श्रवणादि श्रवणादि के माध्यम से आत्मा का ज्ञान कराना है तो निरूपक की सत्ता भी होनी चाहिए जो आप एक सर्वादि है उसकी भी सत्ता अस्तित्व उस काल में अवश्य बोलना पड़ेगा इसलिए एक ही काल में दोनों ज्ञान होने जा रहे हैं एक काल में दो ज्ञान हो ही नहीं सकता तो आत्मा का ज्ञान कैसे करोगे ये सिद्धांत ने कहा पूर्वादि कहता है नर ही बाह्य गोचर श्रवणागत क्रिया क्रिया मंतुर अनुमानम माहूत तब फिर यह माना जाए बाहर में जो श्रवणादि क्रिया शब्द आदि सुना जा रहा है श्रवण मनन जो भी क्रिया हो रही बाहर के विषय को लेकर उसके द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं अनुमति नहीं हो पा रही है नन उतर ही बाह्य गोचर श्रवणादि क्रिया बाह्य को विषय करने वाली जो श्रवादि बाह्य वस्तु को विषय करते हैं शब्दादि को विषय करने वाली श्रवणादि क्रिया है इस क्रिया के द्वारा मंतु जो मनन करने वाला आत्मा है सर्व अनुमानम महाभूत उसकी अनुमति मत हो चलो बाह्य क्रिया को छोड़ दो फिर किंतु बाह्य गोचरा श्रवणादि क्रिया क्रिया एवं आत्मान अभी विषय कर बाह्य को विषय करने वाले जो क्रिया है शब्दादि सुना जा रहा जिस क्रिया है हो रही है वही क्रिया आत्मा को विषय कर देगा दूसरे ज्ञान में एक ही ज्ञान है वो बाह्य विषयों के जिस काल में ज्ञान हो रहा है वही जो जिस क्रिया से ज्ञान हुई वही क्रिया आत्मा को भी विषय बना दे एक ही ज्ञान है माने हेतु का ज्ञान भी और आत्मा का ज्ञान भी एक ही ज्ञान है प्रत्यक्ष ही होगा ये पूर्वादि का किंतु बाह्य गोचरा श्रवादि क्रिया बाह्य विषय को शब्द आदि को विषय करने वाली जो श्रवादि क्रिया है उसी क्रिया से ही क्रिया ही आत्मान अभी विषय करोगी वो क्रिया शब्द को तो विषय करेगी करते हुए आत्मा को विषय हुई क्रिया करेगी माने शब्द सुनते समय आत्मा का ज्ञान भी हो जाएगा अनुमान करने की आवश्यकता नहीं ऐसा पूर्वाज ने कहा सिद्धांत बोलता है सर्वाधिक क्रियायाश्च स्व विषय सर्वाधिक क्रिया जब हो रही है अपने विषयों को विषय करेंगे विषयांतर विषय नहीं कर सकते सर्वाधिक क्रिया शब्द को ही विषय करेंगे श्रवण काल में शब्द ही विषय बनेगा आत्मा विषय नहीं बनेगा ये भाषण कहा सर्वाधिक क्रियायाश्च स्व विषय वह सर्वाधिक क्रिया दर्शन क्रिया हो रही तो केवल रूप को ही विषय बना सकती है आत्मा को विषय नहीं अन्य को विषय नहीं बना सकती एक ही को विषय बनाए ठीक हमें आगे स्व विषय आए स्व विषय गोचर आएगा न तो स्वास्थ्य गोचर आएगा अपने विषय को ही विषय करने वाले होते हैं सर्वाधिक क्रिया जब रूप दर्शन हो रहा तो रूप का ही विषय होगा अन्य का विषय नहीं गंध का विषय नहीं कर सकता वो रूप दर्शन काल में गंध का विषय नहीं होगा गंध को विषय हो रहा है ग्रहण ग्रहण क्रिया उस काल में गंध का विषय बनाएगा रूप का विषय नहीं बना सकता उसी प्रकार सर्वणाधिक क्रिया जो हो रही है सुना जा रहा है जिस काल में शब्द सुना जा रहा है वो क्रिया आत्मा को विषय कैसे करेगी नहीं कर सकते ये कह रहे हैं स्व विषय को कर अपने विषय को विषय बनाने वाली होती है क्रियाएं जो भी क्रिया होती है दर्शन आदि क्रिया दर्शन श्रवण मनन जो भी क्रिया है अपने विषय जो होगा उसी को विषय करेगा अन्य को नहीं कर सकता न तो स्वाश्रय गोचरा जहां पर वो क्रिया बैठी है स्व तो का जो आश्रय होगा उसको विषय नहीं कर सकते न तो स्वाश्रय गोचरा का स्व विषय को अपने विषय को गोचर करते हैं जहां क्रिया हो रही है उसको विषय नहीं करते जो जिस क्रिया का जो विषय है उसको विषय करते ऐसी स्थिति क्रिया चिंता और भी सिद्धांत बोलते चिंता न मतेर मंदारम मन्यथा ऐसा आया है मन, मनोवृत्ति के साक्षी को तुम नहीं जान सकते हो मनन नहीं कर सकते हो जो मनोवृत्ति को देख रहा है जो व्यक्ति उसको तुम किस ज्ञान से जानोगे जो मनोवृत्ति का साक्ष्य जो घड़ाकार पटाकार क्या क्या वृत्ति बनी है मन वो देख रहा है जो व्यक्ति उसको किस प्रमाण से जानोगे नहीं जान सकते न मने मतेर मंतारम मन्यथा ऐसा आया है वृद्धारणी में जो मनन मनोवृत्ति के जो बनता है मनोवृत्ति को जानने वाला जो साक्षी है उसको तुम जान नहीं सकते हो ऐसा कहा है वो आत्मा को यदि हो मंतव्य तो निषेध आत्मा किसी मनन का विषय नहीं है ऐसा निषेध किया है मन का विषय नहीं क्यों जो काष्ठा अग्नि से जलती हो जो काष्ठा अग्नि से जलने वाली होती है वो काष्ठा अग्नि को नहीं जला सकती ना जो मन आत्मा से देखा जाता है आत्मा मन को देखता है किंतु वो मन आत्मा को नहीं जान सकता जैसे जो काष्ट जिस अग्नि से जलती है वो अग्नि को काष्ट नहीं जला सकती इसी प्रकार आत्मा से मन देखा जाता है तो मन आत्मा को देख नहीं सकता उसको विषय नहीं कर सकता इसलिए मनोवृत्ति के साक्षी को तुम जान नहीं सकते हो ऐसा कहा चिंता न मतेर मंदार था यदि आत्मरो मंतव्य निषेधात मनन का विषय का निषेध किया आत्मा के विषय का ये जितने भी साधन बताते हैं वो तो इतर को निकालने के लिए इतर व्यावृत्ति के लिए है जो आत्मा में जो आरोपित वस्तु है उनको हटाने के लिए साधन बताया गया है आत्मा को जानने के लिए कोई साधन नहीं आत्मा में जो आरोपित वस्तु है उनको हटाने के लिए सारे साधन आत्मा आपके ज्ञान का विषय नहीं होता कभी वो स्वयं प्रकाश है आपको जो ज्ञान के साधन जो अपनाते हैं आत्मा को आवरण करने वाले वस्तु को हटाने के लिए ये होता है किंतु न मतेर मंतारम विधा यदि आत्मनो मंतव्य निषेधात आत्मा मनन का विषय का निषेध करने होने से मंतरी आत्मा ने न किया समझित मनन का मन के विषयों को भी मनन करने वाला जो आत्मा है मंतरी आत्मा ही मंत्री उसके शब्द में मंतरी जो मनन करने वाला है मन को भी जानने वाला आत्मा को मनन क्रिया वहां आत्मा मनन क्रिया संभव नहीं वो काम नहीं कर सकते ये कहा इसलिए नहीं कहा नहीं मंतव्याद अन्यत्र मंतूर मनन क्रिया संभवती कहा तो जिस दर्शनादि विषय उनका जो जो विषय होगा मंतव्य विषय जो भी होगा मनन का विषय मंतव्य जो बना होगा जिसका चिंतन विषय का चल रहा होगा उस मन का उस मनन अपना जो विषय से छोड़कर के अन्य जो मनता है उसमें मनन क्रिया नहीं हो सकती उसका जो अपना मंतव्य विषय होगा जिस विषय का चिंतन चला रहा है उसी को वो मनन करेगा आत्मा का मनन नहीं कर सकता मन आत्मा का विषय नहीं कोई भी इंद्रिय आत्मा का विषय नहीं कर सकती ये कहा आत्मनि इत्यर्थ अन्यत्र माने आत्मनि कुठारादि क्रियाया दारुण अन्यत्र व्यापार है देखो जिस क्रिया के जो विषय होगा उससे अतिरिक्त में उसका व्यापार नहीं होता जैसे कुठार होता है लकड़ी काटने का साधन जो कुठार है उसकी जो क्रिया होती है उसके लकड़ी को छोड़ करके अन्यत्र क्रिया नहीं देखी वो लकड़ी को काट सकती है बाकी किसी को काट नहीं सकती कुठार काट नहीं सकता कुठार आदि में जो क्रिया देखी गई है दारुणा अन्यत्र मैंने काष्ठ से अन्यत्र उसकी व्यापार नहीं देखा है इसी प्रकार चक्षु का व्यापार उसका रूप में ही होगा आत्मा को विषय नहीं बना पाएगा चक्षु इंद्रिय जो काम करेगी अपने रूप को विषय कर सकती है आत्मा को नहीं श्रवण इंद्रिय शब्द को विषय कर सकते आत्मा को नहीं घ्राण इंद्रिय गंध को विषय कर सकती है आत्मा को नहीं तो इंद्रिय स्पर्श को विषय कर सकती है आत्मा को नहीं ऐसा है श्रोत्र इंद्रिय शब्द को विषय कर सकती है आत्मा को नहीं इसी पर मन भी अपना जो चिंतन का विषय होगा बाह्य विषय जो होंगे उसे चिंतन करेगा आत्मा का चिंतन नहीं कर सकता नहीं कर सकता ये कहा कुठारादि क्रियाया कुठारादि जो क्रिया है कुठार आदि में जो क्रिया होती है दारू अंतर व्यापार और रसना जो वस्तु का जो विषय दुष्क्रिया का जो विषय होगा उससे अतिरिक्त में उसका व्यापार नहीं चलता तो इंद्रियों का अपना अपना विषय है उसी में उनका व्यापार चलता है आत्मा में उनका व्यापार नहीं चल सकता इन इंद्रिय मन आदि के द्वारा आत्मा को जानना संभव नहीं ये कहा सिद्धांत आगे पूर्वादि शंका करता है माना मन का तो विषय हो जाता है आत्मा आत्मनि माने अन्यत्र श्रोत का अर्थ आत्मनि सात नंबर अच्छा अच्छा तत्काले अनुमति काले इत्यर्थ ये कहा तत्काले वक्तव्य होगा अनुमति काल में अवश्य उसको भी बोलना चाहिए उसके सत्ता को सर्व आदि को बोलना चाहिए नहीं बोल सकते कहते ये कहते हैं तत्काले अनुमति काले तथा न तो तस्या भी अनुमति काले सत्य इसलिए उस माने करण का जो ज्ञान है हेतु का ज्ञान अनुमति काल में होना कोई नियम नहीं तथा न तस्यापि अनुमति काल है सत्यनुमति उक्त सम उत्तम असम्यक एवं पूर्वादि ने जो कहा था हेतु का ज्ञान अनुमति काल में होना कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए भिन्न काल हो जाएगा कहा था सिद्धांत ने कहा था एक काल में दो ज्ञान हो नहीं सकता है उधर हेतु का प्रत्यक्ष होना आत्मा का अनुभूति होना एक साथ में कैसे होगा कहा तो पूर्वाद का नहीं हेतु कारण नहीं हेतु का ज्ञान कारण है हेतु के ज्ञान पूर्व क्षण में है आत्मा का अनुभूति दूसरे क्षण में होगी एक काल में नहीं कहा था तो सिद्धांत का नहीं हेतु का ज्ञान जो था पूर्व क्षण था आत्मज्ञान से पूर्व क्षण में था अनुमिति के पूर्व में उसको नाश के लिए अनुमिति को नाश करना है तो अनुमिति काल में अनुमिति ज्ञान कोई कार्य नहीं कर पाएगा दूसरे क्षण में जाएगा तो अनुमिति ज्ञान काल में दोनों एक साथ हो गए पूर्व ज्ञान भी है हेतु का ज्ञान भी और मिति भी हो गई दो ज्ञान एक साथ होते हैं यही है कहना तथा च तस्या भी अनुमति काले सप्त नियम उसके भी हेतु ज्ञान का भी अनुमति काल में सप्त का नियम है यदि हाँ, सप्त नियम जो कहा था यदि असम्यक वह न तो तस्या भी सप्त वो होना कोई जरूरी नहीं कहा था पूर्वादि ने वो है वहां होता है तस्तु उत्तर नाश्यत्वादि प्रक्रिया अनुगत हम ये नहीं मानते वो तो नैयायिकों ने माना है उत्तर ज्ञान के द्वारा पूर्व ज्ञान नाश होता है आयु की प्रक्रिया हम तो मानते ही नहीं उत्तर ज्ञान से पूर्व ज्ञान नाश होता है पूर्व ज्ञान बना रहेगा हमारे मत पर तो तस्तु उत्तर नाश्यत्वादि प्रक्रिया उन्हें घुमा देवा हम उत्तर नाश्यत्वादी इस प्रक्रिया को हम वेदांति नहीं मानते स्वीकार नहीं करते वो आयु के प्रमाण ये हो अच्छा न तो कथनचित योगपद्यम संभवी हाँ। इसलिए किसी प्रकार भी योग एक साथ हो ही जाएगा वो न कथनचित अभी योग मध्यम संभव विवक्षित संभवती संभवी इति एवं हाँ। तो किसी न कथनचित अन्य प्रकार नहीं व्यवस्था योग पद्य संभवी एक पद्य होगा ही उन का एक साथ ही तद अभ्युपगम हेतु तादृश योग पद्य से नांतरिकतया जब उत्तर ज्ञान के द्वारा पूर्व ज्ञान नाश नहीं होता है मानेंगे तो उनके एक साथ होना जरूरी हो जाएगा तद अभिगम हेतु तादृश रघुपति से उस प्रकार के जो युगपद्य है हेतु ज्ञान और अनुविधि ज्ञान दोनों अवश्यम भावी है इसलिए अनिष्टत्व अभाव अनिष्टत्व नहीं होता ये कहा अच्छा टीका में कहते हैं ननु मनसो बसे सर्वमिदम बभूम ऐसे श्रुति में है सब मन के अधीन है मन सबको जानता है ऐसा कहा मनसो बसे बसे माने अधीन सारा संसार जो भी है चराचर जगत मन के अधीन है ऐसा कहा श्रुति में मनसो बसे सर्वम इधम बहुवा इधम सर्वम मनसो बसे बभुवा ये सब मन के अधीन हुआ ऐसा कहा है है सर्वस्व मनोविषय इससे क्या सिद्ध हो श्रुति से सारे विषय मन के विषय हो जाते हैं शब्द वस्तु तो आत्मा भी एक वस्तु मन का विषय हो जाएगा सर्वम इधम आया है किसी को छोड़ा नहीं है सब कुछ आया तो आत्मा भी आ गया आत्मा भी मन का विषय हो जाएगा श्रुति के आधार पर पूर्वादि ने कहा नाम मनसो बसे सर्वम इदम बभुआ श्रुते ऐसा स्मृति होने से सर्वस्व मनो विषय है सबके सब संसार में जो कुछ भी वस्तु मन का विषय है इस स्मृति के आधार पर इसलिए आत्मरोपी मंतव्य मंतव्यत्व देता तो मन का विषय आत्मा भी हो जाएगा जब सबके सब मन के विषय बना तो आत्मा भी हो गया आत्मा भी मन का विषय बनेगा चक्षुरादि इंद्रियों का बलि विषय न बने किंतु मन का विषय तो हो जाएगा पूर्वादि कहना है यदि शंकते ये शंका पूर्वादि करता है नो मनसा सर्वमेव मंतव्यम ये पूर्वाधिक मन के द्वारा सबका मन करना चाहिए विषय बनाना चाहिए तो आत्मा भी मन का विषय हो जाएगा मन से जानेगा आत्मा को ये पूर्वाधिक करता है तो सिद्धांत का सत्य में ठीक है आपका कहना तथा भी सर्वम अपनी मंतव्यम मंतारम अंतरण न मंतुम सकता ठीक है सब कुछ मन विषय बनाएगा जो भी मंतव्य वस्तु होगा मन एक कारण है किंतु ममता के बिना मनन होना मंतव्य बनाना संभव नहीं उस उसके जो मनन करता जो व्यक्ति के बिना मन सबको विषय नहीं कर सकता है कहा ठीक है मन का विषय सब हो जाते हैं कब मनन करता व्यक्ति हो तो वो एक सिद्धांत का तथापि सर्वप्रति मंतव्य जो भी मंतव्य विषय जो भी होगा मन के जो विषय बनेंगे मंतारम है ममता के बिना आत्मा के बिना जो मनन करने वाला आत्मा होगा मन तो साधन है कारण है वो न मन तुम सक्य मन उसका मन नहीं कर सकता आत्मा चाहिए तो आत्मा को विषय नहीं बना सकता है औरों को तो विषय बना देगा क्यों आत्मा के द्वारा ही मन अपने विषयों को विषय बनाता है पूर्वादि पूछता है यदि एवं के विषय ऐसा हो गया चलो तो मनता के बिना मनन नहीं कर सकता तो क्या हो गया तो सिद्धांत एकदम अदृश्य यहां यह भी हो जाएगा देखो सर्वस्व यो मनता जो सबका मनता होगा वो मनता ही रहेगा वो मंतव्य नहीं मन का विषय नहीं बनेगा वो जो सबका मनता होगा सब कुछ मनन करने वाला व्यक्ति आत्मा वो मनता ही रहेगा मन का मन मन का विषय नहीं मंतव्य नहीं होगा मन का विषय नहीं बनेगा ये सिद्ध होगा ये सर्वस्व मनता सब मनता है वो तो मनता ही रहेगा वो मंतव्य नहीं बन सकता है न सब मंतव्य है वो मंतव्य मन का विषय नहीं हो सकता वो सबका मनता है वो तो वो मन का भी मनता है वो मन का भी साक्षी है वो मन का विषय नहीं हो सकता इसलिए आत्मा को जानने के साथ कुछ भी नहीं मिलता ये सिद्धांत कह रहे हैं न तो देवती हो मंदुर मनता अस्थि एक आत्मा से दूसरा कोई है ही नहीं उस मनता को मनन करने वाला व्यक्ति उस आत्मा को फिर मनन करने वाला कोई दूसरा मनता चेतन ऐसा है नहीं अनात्मा भी नहीं है आत्मा भी नहीं है आत्मा को भी विषय बनाने वाला कोई कोई अनात्मा हो या आत्मा हो ऐसा कोई भी नहीं है न तो द्वितीय मंत्र ममता अस्थि उस ममता का द्वितीय ममता नहीं है उस आत्मा को विषय कर सके जो आत्मा सबका मनता है तो उसको मन फिर विषय बनाने वाला दूसरा कोई है नहीं ना आत्मा है ना अनात्मा है दूसरा कोई भी नहीं है यदा स आत्मना एवं मंतव्य तदा एरत मंतव्य आत्मना आत्मा आत्मना यश मंतव्य आत्मा तौदौ प्रश्न देना पूर्वादि संज्ञा कर सकता है महाराज अन्य से तो मंतव्य नहीं होगा आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बना स्वयं अपना ज्ञान का विषय बन जाएगा वह आत्मा ही जानेगा आत्मा ही विषय बनेगा अपने को स्वयं जानेगा वो किसी अन्य साधन से नहीं होता तो स्वयं स्वयं को जानेगा ऐसा मानोगे तो दोष आएगा सिद्धांत बोलते हैं यदा सा आत्मना एवं मंतव्य अपने द्वारा ही मंतव्य यदि हो जाए आत्मा मन का विषय नहीं बन सकता है तो आत्मा आत्मा को विषय बनाएगा एक प्रश्न उठेगा तब उत्तर देते हैं यदा जब स आत्मना एवं अपने द्वारा ही मंतव्य वह आत्मा जब अपने द्वारा ही मंतव्य हो तो दो भाग होगा आत्मा तभी बनेगा ये न मंतव्य आत्मा आत्मना जिस जिस आत्मा आत्मा के द्वारा जो मंतव्य आत्मा होगा एक आत्मा वो होगा और दूसरा यष्ट मंतव्य आत्मा जिस आत्मा के द्वारा विषय बनाना है और जो विषय बना हुआ आत्मा तो दो प्रसत्य दो आत्मा होगा वो तब होगा ये एक आत्मा से काम नहीं चलेगा आत्मा दो है ही एक विषय बनने वाला और एक विषय करने वाला दो आत्मा हो तभी होगा नहीं तो ऐसा नहीं दो आत्मा है नहीं अथवा एक ही आत्मा का सावैव करके एक हिस्सा जानेगा एक हिस्सा विषय बनेगा ऐसा भी नहीं हो सकता सावैव होता तो होता ऐसा भी नहीं एक एवं आत्मा द्विविधा एक ही आत्मा दो प्रकार होकर के मतलब दो भाग होकर के मंत्री मंतव्य ऐसा मानेंगे तो क्या द्विशकली भवे दो अंश हो तब होगा आत्मा में दो अंश भी नहीं है दो विभाग है नहीं वंशाधिगत जैसे बांस दो भाग हो जाता है उस प्रकार दो भाग यदि आत्मा होता दो हिस्से में होता एक हिस्सा जानने वाला एक हिस्सा विषय बनता किंतु तो ऐसा भी नहीं हो सकता आत्मा में उभयथा भी अनुपत्ति हाँ, दोनों हो नहीं सकता है दो आत्मा भी नहीं है एक ही आत्मा दो भाग भी नहीं हो सकता घटेगा नहीं निर्भय इसलिए आत्मा को जानने वाला कोई सिद्ध नहीं हो सकता आत्मा स्वयं प्रकाश है सिद्ध होना है स्वयं प्रकाश है किसी के द्वारा भी अन्य इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता मन का विषय नहीं अपना भी विषय नहीं बनेगा कर्म और कर्ता एक ही नहीं होता स्वयं जानता हो स्वयं को जानता हो ऐसे नहीं होता देवदत्ता घर बना करके घर में प्रवेश कर सकता है देवदत्त प्रवेश करता है घर कर्म है विषय है किंतु देवदत्त देवदत्ता देवदत्त में स्वयं में नहीं घुस सकता अपने आप में देवदत्त प्रवेश नहीं कर सकता अन्य में प्रवेश करेगा कर्म और कर्ता भिन्न होते हैं एक ही वही कर्ता बने वही विषय बने ऐसा नहीं होता वही कर्म बने वही कर्ता बने ऐसा नहीं होता ये कहा यथा प्रदीपयो प्रकाश प्रकाश प्रकाशत्व तो अनुमति जैसे समत्व तद्वत जैसे दो दीपक जल रहे हो तो एक प्रकाश्य हो या एक प्रकाशक हो मानी एक दीपक दूसरे को प्रकाश देता हो दूसरा दीपक विषय बना हुआ ऐसा होता है क्या नहीं होता यदा प्रदीप दो दीपक जल रहे हैं हैं दीपक उसमें प्रकाश से प्रकाशकत्व तो अनुभति एक विषय बनता हो और एक प्रकाश करने वाला करता होता ऐसा नहीं होता समत्वाद समान है दोनों दोनों प्रकाश समान है इसलिए वहां विषय विषय भाव नहीं होता एक दूसरे को ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना है आत्मा आत्मा को विषय नहीं कर सकता तो अन्य का विषय भी नहीं बनता स्वयं का ज्ञान का विषय भी नहीं बनेगा इसलिए स्वयं प्रकाश आत्मा सिद्ध होता है अन्य का विषय नहीं हो सकता इंद्रियों के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता इनके द्वारा जो ज्ञान बोलते हैं वृत्ति बना करके तो अनात्मा को हटाने के लिए है जो देहादि बुद्धि हो रखी है उसको हटाने के लिए है आत्मा दर्शन के लिए कोई कोई ज्ञान काम नहीं करता और ज्ञान हटाने के लिए आत्मज्ञान आत्मज्ञान बोलते हैं और ज्ञान हटाने में तात्पर्य उसका आत्मा को जानना संभव नहीं आत्मा स्वयं प्रकाश है स्वयं है जो जो आत्मा को ढूंढ रहा है वो स्वयं आत्मा होता है क्या जानेगा उसको वो जानने का विषय ही नहीं जानना न जानना दूसरे में होता है ज्ञात और अज्ञात दूसरे में होता है ये ज्ञान का विषय हो गया ज्ञात है या ज्ञान का विषय है तो अज्ञात है ये दूसरे में होता है अपने आप में ज्ञात अज्ञात दोनों तो नहीं कर सकते न तो मंतुर मंतव्य मनन व्यापार शून्य कालो अस्थि आत्मा मनाया तो मनता का मनन करने के लिए जो मनन कर रहा है जो उसके लिए मनन व्यापार शून्य मनन जिस व्यक्ति विषय का मनन चल रहा होगा उससे अतिरिक्त काल भी नहीं अपने मनन करने के लिए यदि आत्मा दूसरे को मनन करता हुआ अपना भी मनन करता हो दूसरे को विषय करता हुआ अपने विषय करता हो तो दूसरे को विषय करते हुए अपने विषय करने के लिए समय भी नहीं अभी तो दूसरे को विषय बना रहा आत्मा उसके अपने मनन के विषय बनाने का समय ही नहीं है इसलिए आत्मा का भी आत्मा विषय नहीं हो सकता ये कहा न तो मंदूर मंतव्य जो मनता है आत्मा उसके विषय बनाने में मनन व्यापार शून्य काल अस्थि मन का जो व्यापार है मनन का व्यापार उसे शून्य काल भी नहीं मन व्यापार बाह्य विषयों का कर रहा है मन का व्यापार बाह्य विषयों में चल रहा है तो उसी में आत्मा है तो अपने मनन का समय नहीं उसके पास कर नहीं सकता उस तरह से यदापि लिंगेण आत्मा न मनते मनता जब ये श्रवणादि क्रिया को हेतु बना करके लिंग बना करके लिंग बने ज्ञापन हेतु हेतु से आत्मा का जब मनन करता है मनता तदापि पूर्ववत है ऐसे हो जाएगा दो आत्मा होता तो हो जाता एक ही आत्मा में चलेगा नहीं लिंग न मंतव्य आत्मा यह सब तस् मनता दो आत्मा मानना पड़ेगा लिंग से मान हेतु के द्वारा मंतव्य जो एक आत्मा और जो दूसरा होगा मनता आत्मा दो आत्मा मानना पड़ेगा तो दो देते तो हम ये दो होना पड़ेगा दो है ही नहीं आत्मा एक एवं द्विधा पूर्वोक्त दोष अथवा एक ही आत्मा दो अंश होता तो एक मंतव्य बनता एक मंता बनता वो भी नहीं है यहां नहीं हो सकता अच्छा तो पूर्वादि पूछता है न प्रत्यक्षण न अभी अनुमान में क्या है दो ही तो प्रमाण था आत्मा को जानने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण से भी आत्मा ज्ञान नहीं होगा प्रत्यक्ष प्रमाण बाह्य विषयों के लिए आत्मा के लिए नहीं अनुमान भी बाह्य विषयों के लिए आत्मा के लिए नहीं आपने सिद्ध कर दिया न प्रत्यक्ष ना भी अनुमान के आए थे प्रत्यक्ष से भी नहीं जाना जाता है अनुमान से भी नहीं जाना जाता है कि कथम उच्चते समय आत्मा विद्या फिर ऐसे कैसे कह दिया कि वो मेरी आत्मा है ऐसा जाने ज्ञान का विषय नहीं और जाने स्मृति कैसे बोलती है विद्रिली का प्रयोग है विद्या वो मेरे आत्मा है ऐसा जाने साधक को जानना चाहिए आत्मा को ऐसा कहा तो कैसे जाने दो ही दोनों प्रमाण यदि काम नहीं कर सकते हैं प्रत्यक्ष से भी ज्ञान नहीं होता अनुमान से भी ज्ञान नहीं होता तो फिर आत्मा का ज्ञान कैसे होगा एक शंका आ गई इसका उत्तर देते हैं आगे पहले टीका से देखें इसका तो पूर्वाज ने कहा था उन्होंने मनसो बसे सर्वमिदम बहुवत ऐसा श्रुति है सारे संसार मन के बस में है मन जैसा सोचे वैसे हो जाता है ऐसा कहा सारा मन के वश में कहा स्मृति मन से सर्वस्व मनोविषय द्वार सारे के सारे मन का विषय सर्व से सर्व पे आत्मा भी आ गया है सर्व शब्द प्रयोग कर दिया कोई छूटा नहीं आत्मा भी है इसलिए आत्मनो भी मंतव्य हुआ मन का विषय हो जाएगा आत्मा भी इस अंग पूर्वादि की थी नानो मनसा सर्व मंतव्य मन के द्वारा सबका मंतव्य विषय होगा तो आत्मा भी विषय हो जाएगा मन विषय बनाएगा ऐसा कहा था सिद्धांत कहेंगे आगे एवं पे भी मनसा करण ठीक है मन सबको विषय बनाएगा बोला फिर भी मन तो कारण है कारण क्या होता है साधकतम करणम व्याकरण ऐसा कारण की व्याख्या की है जो क्रिया की सिद्धि के लिए करता जो अनेक साधनों में से अत्यंत साधकतम कर्ण क्रिया समझता है साधक साधन समझता है उसकी कर्ण संज्ञा कर देते हैं साधकतम कारण क्रिया सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक जो कारक होगा उसको एक कर्म संज्ञा कर देते हैं तो मन कारण है माने किसी विषय के चिंतन के लिए साधन है वो वो चिंतन नहीं कर सकता चिंतन करने वाला आत्मा होगा ये कहते हैं एवं वही तो मनसा करण प्राप्त सब मन के बस में होने पर भी मन तो कर्ण कोटि में है करता नहीं है वो विषय स्वयं नहीं बना सकता कर्ण होने से क्रियाया करता कर्ता आरम अंतरानुपत्य और क्रिया जो होती है कर्ता के बिना नहीं होती है खाली कारण से क्रिया नहीं होगी लेखनी रखी हुई है कोई व्यक्ति ना हो तो लेखनी चलेगी नहीं उसको चलाने वाले व्यक्ति की जरूरत है कोई भी तो एवं मन स कर्णत्वाद मन करण है कर्ता नहीं हो करण है क्रियायाश्च कर्तार कर्तारम अंतरानुपति क्रिया जो होती है कर्ता के बिना नहीं हो सकती क्रिया दर्शनादि क्रिया होने तो कर्ता चाहिए मननादि क्रिया के लिए करता चाहिए इसलिए ममता अवश्य मन की कर्तव्य उस मनन के विषय का मनता अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा मनता आत्मा होता है स्वीकार करना पड़ेगा मन से आत्मा को जानना संभव नहीं है मन तो करण है तो कर्ता के बिना कर काम नहीं कर सकेगा एक इति पदम सिद्धांत आज सिद्धांत कहते हैं सत्यम एवं कहा सत्यम एवं तथापि सर्वम अपनी मंतव्य जितने भी मन का विषय होगा मंतारम अंतरेण न तुम सक्यम मंता के बिना माने उस मन के विषय को जानने वाला जो मंता होगा उसके आत्मा के बिना न तुम सक्यम उसका विषय बनाना संभव नहीं है यदि ममता व्यक्ति होगा तो मन विषय बनाएगा नहीं तो मन विषय नहीं बना सकता आत्मा के बिना ठीक है क्यों न मन्यु था यदि विशेष कृत्या मंतव्य तो निषेधा नहीं मतेर मंदारम मंजुधा ऐसा आया है कि तो मन को मन की वृत्ति को जानने वाले को तुम विषय नहीं कर सकते हो तुम जान नहीं सकते हो ऐसा आया आत्मा के लिए ऐसा आया मन के वृत्ति को जो जानता है कैसी कैसी वृत्तियां सुभाषुभ वृत्तियां बनी हुई है आत्मा को ज्ञान हमें पता होता है हमारे मन में क्या वृत्ति उठी हुई है सब देख रहे जानते हैं तो न मन था ऐसा है विशेष वृत्ति है नहीं आप मतेर मंतारम न मन्यता मन की जो मनता है मन को भी जानने वाला मनोवृत्ति को जानने वाला साक्षी को तुम मन के द्वारा जान नहीं सकते हो ऐसा आएगा ये विशेष स्थिति से मंतव्य तो निषेधार्थ मंतव्य का निषेध किया है आत्मा विषय नहीं बन सकता है मन का अभ्युपगम में उच्चते सूचयती अभिशब्द यहां स्वीकार करके कहा गया सूचयती यदि मन का विषय बनाते भी हो तब भी आत्मा के बिना मन किसी को विषय नहीं बना सकता ऐसा कहा अपी शब्द यही है तथापि में अपी यही लगाया है आठ के टिप्पणी में कहा विशेष श्रुति विरोध है ना सामान्य श्रुतौ आत्मातिरिक्तम एवं जो सामान्य श्रुति थी मनुष्यों बसे सर्वम इदम बभुव सामान्य श्रुति है और विशेष श्रुति है न मतेर मंदार था विशेष श्रुति है तो विशेष श्रुति इसी आने पर सामान्य को संकोच कर दिया जाता है आत्मा से अतिरिक्त को तो विषय बनाता है अर्थ हो आत्मा को विषय नहीं बना सकता नहीं तो ये न मतेर मंदार मनु था इस श्रुति का विरोध आ जाएगा सब मन का विषय आत्मा को विषय बनाने लगे तो इसलिए वो सामान्य श्रुति है से सर्वंगितम सामान्य श्रुति है साधारण है और ये जो विशेष है न मतेर मंतार मनु था ये विशेष श्रुति है ये कहा एक टिप्पणी कह रहे थे सामान्य श्रुतौ विशेष श्रुति विरोध है ना सामान्य श्रुतौ आत्मा आत्मा अतिरिक्तम एवं सर्वम मनुष्य बसे की संकोच से संभव सामान्य श्रुति में संकोच कर देना आत्मा से अतिरिक्त को मन विषय बनाता है जो सामान्य श्रुति कौन थी मनुष्य बसे सर्वविदम एकदम है सामान्य श्रुति उसको संकोच करना आत्मा को छोड़ करके बाकी को मन विषय बनाता है अर्थ करना ये कहा अच्छा ठीक है कहते हैं अस्तु मंतुर आवश्यकत्व पूर्वादि कहता है ठीक है मनता चाहिए मनता के बिना मन कोई काम नहीं कर सकता वो करण है अपने करण कोटि में डाला है उसको करता नहीं है करता के बिना करण काम नहीं कर सकता ऐसा है तो अस्तु मंतुर आवश्यकता मनता की आवश्यकता हो ठीक है मानते हैं तावता तब तुम सात तो पूर्वादि बोलता है मन तो मान लेते हैं ठीक है फिर तुम्हारा क्या सिद्ध होगा पूर्वादि पूछ रहा है तावता तब किम से तब सिद्धांत सिद्धांत न के विषय तुम्हारे सिद्धांत का क्या सिद्ध हो जाएगा ममता मानने पर तब ये शंका करता है यदि एवं किम से यदि ऐसा हो ममता है मानेंगे ममता के बिना मन मनन नहीं कर सकते क्या हो जाएगा तब सिद्धांत बोलेंगे एक मात्र से आप बोलेंगे ठीक है एवं सती आत्मा मंतव्यत्व अभाव सिद्ध कर रहे हैं ऐसा मानने पर मनन का भी ममता मानने पर क्या होगा आत्मा मन का विषय नहीं हो सकता ये सिद्ध हो जाएगा ये सिद्धांत का उत्तर ये है एवं सती आत्मा और मंतव्यत्व अभाव मान मन क्रिया का विषय का अभाव मनोवृत्ति का अभाव सिद्ध हो जाएगा इधम अत्रस्याद एक भाषण का ये यहां सिद्ध हो जाएगा देखो क्या सिद्ध होगा टीका में कहते हैं कुत ये तदीय कैसे होगा आत्मा मन का विषय नहीं होगा कैसे सिद्ध हो जाएगा तत्र वक्तव्य किम आत्मनो मनने स्वयं में तो मनता वो तो अन्योवा यदि विकल्प होते पूर्वादि पूछेगा यदि कि ये कैसे हो सकता है मन का विषय नहीं बनेगा कैसे मानेंगे हम तब सिद्धांत कहते हैं तत्र वक्तव्य इसमें हम आपसे पूछते हैं सिद्धांत बोलते हैं पूर्वादि से तत्र वक्तव्य तो बोलना पड़ेगा किम आत्मनो मनने स्वयं में मनता आत्मा को मनन करने में स्वयं मनता है आत्मा स्वयं स्वयं को जानता है ये मानना है अथवा अन्य होगा अथवा दूसरे दूसरे कोई अनात्मा जानता है आत्मा को या कोई दूसरे आत्मा आत्मा को जानता है स्वयं आत्मा आत्मा को जानता है अथवा आत्मा से अतिरिक्त अनात्मा हो सकता है कोई दूसरा आत्मा हो सकता है अनात्मा आत्मा को जानता है या कोई दूसरा आत्मा इस आत्मा को जानता है क्या मानोगे पहले वाला खंडन करते हैं माने स्वयं स्वयं को जानता है ये पक्ष का खंडन करते हैं क्यों आत्मा मन स्वयं में मानता ये वाला पक्ष खंडित करते हैं सर्वस्व जो मानता जो सबका मानता होगा सबको विषय बनाने वाला बैठा होगा सबको जानने वाला मानता है सब मानता है वो मानता ही रहेगा वो मंतव्य नहीं हो सकता न मंतव्य किसी का विषय नहीं बनेगा जो सबको विषय करने वाला व्यक्ति है वो किसी दूसरे का विषय नहीं हो सकता स्वयं वो मानता ही रहेगा मंतव्य नहीं हो सकता वो एक टीका में कहते हैं एकत्र कर्तिकर्म भाव से विरोध एक व्यक्ति में कर्तृत्व तो कर्म तो दो नहीं हो सकता माने विषय भी बने और विषयी भी बने दो नहीं हो सकता कर्म और कर्ता एक व्यक्ति में दो नहीं हो सकता जो कर्ता बना हुआ है तो कर्म नहीं हो पाएगा एकत्र मान एक व्यक्ति में कर्तृत्व तो कर्म भाव माने मनता बन चुका है तो मंतव्य नहीं हो सकता जो मंतव्य है तो मनता नहीं हो सकता आत्मा मनता है सबका मनता है मंतव्य कभी नहीं वो करता ही रहेगा कर्म नहीं हो सकता एक एकत्र कर्तिकर्म भाव से भाव मान त्व कर्तृत्व कर्मत्व का विरोध विरोधात मंतुर मंतव्य तुम न संभव करता मंता का मंतव्य माने विषय बनाना संभव नहीं है जो हो गया द्वितीय द्वितीय कोटि मानेंगे अन्य है मंता अन्य है तो क्या आत्मा दूसरा अनात्मा मानता है या आत्मा मानता है या आत्मा को जानने वाला दूसरा कोई अनात्मा वस्तु जानता है या दूसरा आत्मा जानता है एक प्रश्न उठेगा द्वितीय ममता अनात्मा आत्मा वा इस आत्मा को विषय करने वाला तो दूसरा ममता होगा विषय करने वाला व्यक्ति वो अनात्मा है कि आत्मा है यहां भी दो विकल्प खड़ा होगा द्वितीय सब ममता अनात्मा आत्मा वा यदि विकल्प आद्या पहला वाला पक्ष है अनात्मा उसको जो बोलते हैं न तो देवती हो ममतुर ममता अस्थि कहा दूसरा कोई ममता का ममता दूसरा अनात्मा वस्तु नहीं है कोई दूसरा कोई अनात्मा इस आत्मा को जानता हो ऐसा कोई तो नहीं है द्वितीय इति अनंतरम अनात्मा इति शेष भाष्य में जो नच द्वितीय है उसके आदि अनात्मा दूसरा कोई अनात्मा इस आत्मा का मंत्र नहीं बन सकता घट आदि वस्तु या आत्मा को नहीं जान सकता अब रह गया दूसरा आत्मा इस आत्मा को जाने वो वाला पक्ष आप देखेंगे आप वो वाला देखेंगे इसके लिए बोलना चाहते हैं कहते हैं अनात्मनो अचेतन से मंत्रित्व तो अनुबंध अनात्मा जो होता है अचेतन होता है उसमें मंत्र तो आएगा ही नहीं वो तो जानेगा ही नहीं कुछ किसी को भी नहीं जानता ये आत्मा को क्या विषय बनाएगा वो तो अनात्मा तो नहीं हो सकता द्वितीय अनुबदती तो द्वितीय पक्ष में नहीं नहीं दूसरे आत्मा इस आत्मा को जानेगा दूसरा आत्मा इस आत्मा को जानेगा तो ऐसा पक्ष लेंगे तो कहा यदा स आत्मा एवं मंतव्य आत्मा के द्वारा ही जो मंतव्य होगा जाना जाएगा आत्मा के द्वारा तदा तब उस स्थिति में एन च मंतव्य आत्मा आत्मा जिस आत्मा के द्वारा मंतव्य विषय बनने वाला एक आत्मा होगा और यश मंतव्य आत्मा एक आत्मा जानने वाला और एक विषय होने वाला दो आत्मा हो जाएगा उस काल में तो दो प्रसज्य याताओं दो आत्मा की प्रसक्ति होगी ये विरोध है क्या विरोध आएगा टीका हम दिखाएंगे अश्विन है दो आत्मा मानेंगे जब एक जानने वाला आत्मा एक विषय बनने वाला आत्मा ऐसा मानने पर अश्विन है एक स्वयं शरीर आत्मा दो एक ही शरीर में दो आत्मा होगा एक विषय बनने वाला आत्मा और एक जानने वाला आत्मा दो आत्मा होगा यह एक ही शरीर में ऐसा मानना पड़ेगा इस स्थिति में क्या होगा तदा तब दो आत्मा स शब्दों देखते हम अनुवादती अच्छा स शब्दों परस्पर समुचय छह शब्द जो है एक दूसरे को समुचय करने के लिए कहा ये न आत्मना आत्मा मंतव्यो यश आत्मा मंतव्य दिया है जिस आत्मा के द्वारा आत्मा मंतव्य होता है या दो आत्मा आत्मा छप गया एक आत्मा काट देना चाहिए ये न ये या भी च है वो ये न आत्मना आत्मा मंतव्य जिस आत्मा के द्वारा आत्मा मंतव्य बनेगा और यश आत्मा मंतव्य माने दो आत्मा एक जिस आत्मा के द्वारा ये विषय बनेगा और जो विषय बना हुआ आत्मा दो आत्मा हो जाएगा ऐसा करना कहा तृतीयांत प्रथमांत एक शब्दाभ्याम एक या यद शब्द एक तो तृतीयांत है और एक प्रथमांत है यश्च और एक तृतीयांत है ये जो यद शब्द है तृतीयांत प्रथमांत एक अभ्याम हाँ। उक्त दो आत्मानों से आता में तो कहा गया दो आत्मा आ जाएंगे एक ही शरीर में एक दोष परिहाराय एक आत्मा एकांश न मंत्रित्व अंशांतरण मंतव्यत्व विद्युत्व सावित्व आता ये दोष को दो आत्मा की दोष आ गई दो आत्मा होना संभव नहीं अच्छा, तो इस स्थिति में क्या होगा कि नहीं एक ही आत्मा है दो अंश होकर के काम करेगा एक अंश मनता बनेगा एक अंश मंतव्य बनेगा एक ही आत्मा दो आत्मा नहीं है एक आत्मा दूसरे को जानता है आत्मा एक ही है दो अंश में काम कर रहा है एक अंश तो मंता बनेगा विषय बनाने वाला और एक विषय बनने वाला दो अंश होकर काम करेगा ऐसा कहे तब कहते हैं <clears throat> इसके लिए कहा एक दोष परिहार आए दो आत्मा आने पर दोष आने वाला है दोष एक शरीर में दो आत्मा मानना पड़ेगा दोष आ जाएगा इसलिए क्या इस दोष को खंडन करने के लिए हटाने के लिए एक शैव आत्मा आत्मा तो एक ही है मानना एक शरीर में तो एक अंश है ना मंत्रित्व एक अंश के द्वारा मनता बनेगा जानेगा और अंशांतरण दूसरे अंश के द्वारा मंतव्य तो विषय बन जाएगा इति उत्तव सावयुक्तम ऐसा मानोगे तो आत्मा दो दो मानना पड़ेगा सावय मानना पड़ेगा आत्मा तो एक ही है दो भागों में है वो आत्मा निर्वय सारी श्रुति निर्वय मानती है इसलिए कहा एक एव इत्यादि कहा था भाष्य में एक एव आत्मा द्विधा मत तत्व ना द्विशकली भवेद वंशाधिगत उस स्थिति में सावय हो जाएगा जैसे बांस दो दो फाड़ होता है दो अवय वाला होता है इस प्रकार होता है उभय था भी अनुपत्ति कहा था पूर्वाधि कहता है अस्तुपो दोष चलो मान लेंगे हम इस आत्मा इस तरह आत्मा में क्या दोष आएगा एक ही शरीर में दो आत्मा मान लें अथवा अंशांशी भाव मान के काम करें दो अंश है आत्मा का मान लें क्या दोष आएगा अस्तु को दोष है इतिहास ऐसा मानने में क्या दोष है ऐसा पूर्वाधिक की शंका आ गई एक नंबर ने कहा आत्मद्वयम एकत्र देहे हाँ एक ही शरीर में दो आत्मा मानेंगे तो आपत्ति क्या है एक आत्मा प्रेरक बनेगा विषय बनेगा एक आत्मा विषय ही बनेगा एक जानेगा एक विषय बनेगा दो आत्मा मान लेंगे क्या आपत्ति है तो अथवा एक वा सावयत्व आत्मनोस्तु अथवा एक ही आत्मा दो दो भाग में काम कर रहा है आत्मा तो एक ही है एक अंश से विषय बनाया हुआ है एक अंश विषय एक अंश विषय एक जान रहा है एक जाना जा रहा है दो अंश हो जाएगा क्या आपत्ति आएगी ये पूर्वादि ने शंका उठाई अस्तु को दोष क्या दोष आएगा ऐसा मानने पर दो आत्मा मान लें एक ही शरीर में एक आत्मा जानता है एक आत्मा जाना जाता है ऐसा माना जाए अथवा दो नहीं एक ही आत्मा है दो अंश में काम कर रहा है एक अंश जानता है दूसरा अंश जाना जाता है तो क्या आपत्ति है आत्मा आत्मा को जानता है बोलने में क्या आपत्ति है ऐसा कहा तो सिद्धांत बोलते हैं आत्मभेदे तयोर का मध्य अयोगा जो दो आत्मा होंगे तो एक बुद्धि नहीं रहेगी एक बोलेगा पूर्व चलने को एक बोलेगा उत्तर चलने को एक आत्मा का एक गंगोत्री चलो एक आत्मा बोलेगा ऋषिकेश चलो उसके तो शरीर के उन्मंथन हो जाएगा शरीर फट जाएगा यदि दो आत्मा मानेंगे मतलब दो टुकड़ा मानेंगे तब भी यह स्थिति आ जाएगी यही कहा आत्मभेदे तयोर ऐकमत्य अयोगा एक मत नहीं रहेगा दोनों का अपना अपना सिद्धांत अलग होगा दो व्यक्ति हैं जब तक तो आत्मभेद है तो ऐकमत्य नहीं एक मत नहीं है दोनों न होने से विरुद्ध की क्रिया तैयार भिन्न भिन्न दिशा में जाने की क्रिया होगी उनकी एक बोलेगा पूर्व की तरफ जाने की क्रिया करेगा एक पश्चिम की तरफ जाने की क्रिया करेगा शुरू कर देगा हाँ। विरुद्ध शरीर शरीरम उन्मथन इसलिए तो शरीर के उन्मथन हो जाएगा शरीर की परेशानी आ जाएगी किधर जाएगा शरीर तो एक ही है आत्मा दो है एक बोले पूर्व चलो एक बोले पश्चिम चलो इसलिए दो आत्मा मानना संभव नहीं इसलिए आत्मा को जानने के लिए ना इंद्रिय काम करते हैं ना मन काम करता ना आत्मा आत्मा को जान सकता है कोई साधन नहीं है इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है ये शुद्ध होना स्वसत्तायाम स्वयं प्रमाण अपने लिए स्वयं प्रमाण होता है व्यक्ति कोई भी व्यक्ति मैं कौन हूं पूछने नहीं जाता किसी को भी ये वस्तु क्या है ये तो पूछता है इसके बारे में अज्ञान है या ज्ञात है इसको मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं तो जानता हूं ठीक है नहीं जानता पूछने जाता है एक ही चाहिए किंतु तो कोई भी ऐसा पागल नहीं होगा मैं कौन हूं करके पूछता हो तो पागल का ही पूछता कौन नहीं जानता अपने लिए फिर उसके लिए क्या प्रमाण की जरूरत है स्वसत्तायाम स्वयं प्रमाण अपने अस्तित्व में स्वयं प्रमाण है मैं नहीं हूं कोई भी नहीं बोलता मैं हूं कहता है सब अंधेरे में हो दरवाजा बंद हो बाहर से खड़खड़ाएगा तो मैं हूं बोलेगा कौन है बोलेगा मैं हूं कहता है अंधेरे में भी दिखता है अपना वहां पर किसी को पूछना नहीं पड़ता ज्ञान है मैं हूं तो उसके लिए क्या प्रमाण की आवश्यकता है अंधा आदमी भी मैं हूं कहता है बहरा आदमी भी मैं हूं बोलता है हाँ, सब बोलते तो इसके लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता ये सिद्धांत कहना चाहते हैं ठीक है सावयत्व अनित्व ने कृताहनादिकम से आध माने दो आत्मा मानेंगे तो शरीर के उन्मंथन होने की संभावना है भिन्न दिशा की क्रिया की इच्छा होगी एक आत्मा पूर्व जाने को सोचेगा दूसरा पश्चिम जाने को सोचेगा शरीर उन्मंथन होगा दो आत्मा मानने पर अथवा एक ही आत्मा है दो अंशों में काम करता है माना जाए एक अंश में जानना एक अंश में जाना जाना एक अंश में विषय ही बनेगा एक अंश में विषय बनेगा ऐसा मानने पर भी क्या होगा तो कहा सावय होते आत्मा को सावय मानने पर अनित्य हो जो सावय होता है अनित्य होता है अनित्य होगा तो आत्मा भी अनित्य हो जाए दो टुकड़ा माना है ऐसा मानने पर सावय हो गया सावय जो होता है अनित्य घर सावय है अनित्य है कि नित्य है कभी पूछ सकता है अनित्य जो सावय होता है अनित्य होता है आत्मा सावय हो गया ऐसा मानने पर दो अंश मानने पर अनित्य होगा अनित्य होने पर क्या होगा कृतहान आदि दोष पहले कर्म किया था फल भोगने के लिए किंतु तो आत्मा अनित्य है कभी भी नाश हो सकता है कर्म का फल भोगे बिना नाश हो सकता है कृत का हान किया हुआ का ना नष्ट हो जाए और दूसरा अकृताध्यागम दोष भी आ जाएगा वो पहले वाला आत्मा अनित्य था वो मर चुका है उसने किया नहीं था कुछ भी काम किया नहीं था और अभी उसका फल भोग रहा है अकृत का अध्यात्म नहीं किया हुआ का तो फल मिलना और किया हुआ का नाश हो जाना दो दोष आ जाएगा अगर आत्मा को अनित्य मानेंगे सावय मानेंगे तो ये सिद्धांत ने कहा सावयवत्व अनित्य ना सावय मानेंगे दो भाग में होकर के एक अंश जानता है एक अंश विषय बनता है ऐसा माने उस स्थिति में दोष अनित्य हो जाएगा सावय होने से कृतहानादिकम सी दोष महा कृतहानादि दोष आ जाएगा इसे उभय था अनुपत्ति कहा दो आत्मा मानना भी संभव नहीं है और एक ही आत्मा को दो भाग में काम करता है मानना भी संभव नहीं है इसलिए आत्मा को जानने का साधन कोई भी नहीं हो अन्य विषय भी नहीं रहा आत्मा भी नहीं रहा इसी तरह ठीक है अपनी समान स्वभाव दीपयो कर्तिकर्म भाव आदर्शना देखो आत्मा तो अभिन्न है कर्ता और कर्म बन ही नहीं सकता किंतु भिन्न व्यक्ति में भी समान स्वभाव वाले में कर्ता और कर्म नहीं देखा है ये तो अभिन्न या कर्ता कर्म कैसे बनेगा वही आत्मा जानेगा वही आत्मा विषय बनेगा संभव नहीं भिन्न वस्तु में भी नहीं देखा ऐसा समान स्वभाव वाले जैसे दो दीपक जल रहे हैं दोनों समान प्रकाश रूप है समान स्वभाव वाले हैं एक वहां पर प्रकाशक बनेगा एक प्रकाश्य बनेगा ऐसा नहीं होता भिन्न में भी प्रकाश प्रकाश भाव नहीं है विषय विषय भाव भिन्न में भी नहीं है समान स्वभाव वाले हैं यहाँ तो अभिन्न वस्तु कहा विषय विषय भाव होगा आत्मा में ये कहना चाहते सिद्धांत सिद्धांत ये बोलते हैं भिन्नयोरपी दो दीपक जल रहे भिन्न होते हैं वो भिन्नयोरपी भिन्न में भी समान स्वभाव है समान स्वभाव वाले ये भी प्रकाश रूप है ये भी प्रकाश रूप है दोनों दीपक जल रहे हैं इनमें कर्म कर्तिकर्म भाव अवस्था एक करता है एक कर्म नहीं बनता है एक दीपक दूसरे को प्रकाश करता है एक प्रकाश्य होता है ऐसा नहीं देखा है अदर्शा आत्मभेद पक्षे आत्म सकल भेद पक्षे व तयो समान स्वभावत्वा जो आत्मभेद मानो चाहे आत्मा का दो अवय पाप उस पक्ष में दोनों समान स्वभाव वाले होंगे इसलिए क्या होगा समान स्वभाव अभिन्न पक्षे इव कर्तिकर्म भावो न संभवती अनुपत्यंतर वहा इसलिए जैसे अभिन्न पक्ष में कर्ता और कर्म नहीं बन सकता है कि आत्मा उसी प्रकार दो आत्मा मानने पर भी कर्ता कर्म नहीं हो सकता जैसे दो दिग्पद में कर्ता कर्म नहीं है समान स्वभाव वाले हैं या भी दो आत्मा भी मानोगे तभी समान स्वभाव वाले होंगे समान स्वभाव वाले में एक करता है कर्म नहीं होता कहां देखा दीपक में देखा दो दीपक में देखा ऐसे यहां भी हो जाएगा ये कहना चाहते हैं यथा इत्यादि कहा यथा प्रदीप प्रकाश्य प्रकाशक अनुपत्ति जैसे दो दीपकों में एक प्रकाशक बनता हो एक प्रकाश्य होता हो एक विषय होता हो एक विषयी होता हो ऐसा नहीं देखा ठीक इस प्रकार यहां भी होगा समान होने से तब उसी प्रकार ये आत्मा में भी ऐसा हो जाएगा ठीक है हमें कहते हैं आगे किंच और भी बात है देखो इंद्रिया आत्मा को कैसे विषय करते तुम बोलते मन से जाना जाता है कठोपनिषद तुमने पढ़ा नहीं किया परांची खानी व्यतिरत स्वयं ऐसा बोला हुआ कि इंद्रिय जितने भी है सब बाह्य विषयों को विषय करने के आत्मा को विषय करने के लिए नहीं है हाँ। तो इंद्रिय के द्वारा आत्मा को कैसे जानोगे तुम ये सिद्धांत कह रहे हैं आगे किंच परांचिकानी व्यतिगत स्वयंभू कहा उस परमात्मा ने इंद्रों को बहिर्मुख बना करके इनकी हिंसा कर डाली पहले से अंतर्मुखी बना दिया होता सभी आत्मविद्ता हो जाते हैं किंतु इनके स्वभाव बहिर्मुखी बना दी विषयों को विषय करते हैं आत्मा को विषय नहीं कर सकते तस्मात परम पश्चित नान्तरात्मन इसलिए बाहर के विषयों को विषय बनाते हैं आत्मा को नहीं आत्मा का न चाट करके ज्ञान होगा न सुन करके ज्ञान होगा न देख करके होगा न सुन करके होगा नहीं हो सकता न छू करके इंद्रियों का विषय है नहीं आपको ये तो बाह्य शब्द रूप रस आदि को विषय करने वाले हैं इंद्रिया तो परांचिकानी व्यग्रण स्वयंभू तस्मात परांग पश्चिम दिनांतरात्मन इति स्मृति ऐसा स्मृति है परिषद है होने से करणानाम बहिर्विषयत्व नियम से करणों का आया इंद्रियों का क्या नियम है बाहर के विषय बनाना नियम है बाहर के विषय को विषय करते हैं यही सिद्ध होता है ये नियम सिद्ध है नियम से आत्मविषय तो अभाव से जुड़ता है आत्म विषय को आत्म विषय नहीं कर सकते आत्मा को विषय नहीं अभाव कहा कहा कठोपन शब्द कहा ये बाह्य विषयों को विषय बनाते हैं आत्मा को विषय नहीं कर सकते ये कहा तो तस्मात पर हम पश्य दिनांतर आत्मा आत्मा को विषय नहीं कर सकते कहा बाह्य विषयों को विषय बनाते हैं ऐसा भी कहा इसलिए भी मन का विषय आत्मा कैसे होगा तुमने कहा कि मनसो वैसे एकदम शर्मा बगो स्तुति लेकर कहा मन का विषय हो जाए कैसे हो सकता ये सिद्धांत कह रहे हैं और यन मनसा नमनते सूर्य ये भी है यन मनसा नमनते ये नाहुर मनोवतम तदेव प्रमतम बुद्धि वेदम विदे केनोपनिषद का जो मन के द्वारा जिसको विषय नहीं किया जा सकता जो मन को विषय बनाता है उसी को आत्मा समझना तुम ब्रह्म समझना जिसकी उपासना होती है वो ब्रह्म नहीं है ऐसा कहा है जो मन जिसको विषय नहीं कर सकता जो मन को विषय बनाता है मन को भी जो तो जानता है मन जिसको जान नहीं सकता तो आत्मा होता है मन को आप जानते हैं मन कहां है अभी किस विषय में पहुंचा हुआ आपको पता होता है मालूम है किस विषय में फंसा हुआ है कौन से आकार बनाया हुआ है मालूम पड़ता है आप जानते हैं वह आत्मा है दो नंबर की टिप्पणी बैर विषयत्व तो नियम बाहर रहना इसका नियम बताया माने बैर विषय तो माने बैर विषय आत्म विषयत्व अभावाभ्याम एवं तल्लावादा बैर विषय ये नियम शब्द अधिक हो गया कहते हैं उसकी जरूरत है नियम पद का या टीका में जो नियम दिया है बैर तो नियम से आत्म विषयत्व तो अभाव से हुआ बैर विषयत्व आत्म विषयत्व अभाव से जुड़ता इतने से काम चलता है नियम देने की जरूरत नहीं बोलते हैं टिप्पणी में नियम यदि अधिकम नियम शब्द अधिक हो गया के कारण क्यों बहिर्विषयत्व विषयत्व आत्म विषयत्व अभाव दो पद तो है बहिर्विषयत्व विषयत्व भी है आत्म विषयत्व अभाव भी है उससे जो हो जाएगा इंद्रिय का स्वरूप है बाहर को विषय करना आत्मा को विषय नहीं कर सकना आत्म विषय का अभाव इतने से काम चलता कहा बैर विषयत्व अनात्म विषयत्व बहिर्विषयत्व विषयत्व करता अनात्म विषयत्व है इंद्रिया भी होती है अनात्मा को विषय करती है आत्मा को विषय नहीं कर सकती अर्थ है ये बताया तो उधर केनोपरिषद का यन मनसा न मनते ये नाहुर मनोगतम तदेव ब्रह्मतम विद्धि वेदम उपासित सका है जो मन जिसको विषय नहीं कर सकता है मन को जो विषय बनाता है मन को जो जानता है वह आत्मा है जिसकी उपासना होती है आत्मा नहीं है ऐसा करके निषेध किया है अच्छा मनसो बहिर्विषय मंतव्य एवं व्यापार और आत्मनिका इसलिए क्या सिद्ध होता है कि मन के जो है बाहर विषय जो उसका मंतव्य विषय है जिसको मनन कर सकता है मन उसी में व्यापार चलता है आत्मा में व्यापार उसका नहीं चलेगा उसका विषय बाहर है बाहर के विषयों को विषय बना सकता है आत्मा को विषय नहीं कर सकता इसलिए मन का विषय भी आत्मा नहीं है ये सिद्ध हुआ कहा इसलिए कहते हैं नचक मंतूर इत्यादि कहा था न तो मंतुर मंतव्य मनन व्यापार शून्य कालो अस्थि मन को मनता का मनन करने के लिए उसके मनन का जो विषय है बाहर उससे उससे अतिरिक्त काल है नहीं हमें ऐसा मन बाहर विषयों का मनन चल रहा है कब आत्मा का चिंतन करेगा आत्मा चिंतन करेगा काल ही समय नहीं उसके बाद जब भी हो बाह्य विषयों का ही चिंतन चलता है मन में आपने अनुभव में लिया होगा चाहे जब में बैठे ध्यान में बैठे कष्ट है बाहर विषय सामने आ जाते हैं वो उसी का चिंतन चलता है उसको समय ही नहीं आत्मचिंतन करने का अतिरिक्त काल ही नहीं है जबकि देखे बाहर के विषय फंसा हुआ होता है कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंसा हुआ होता है ठीक है समय हो गया है यह ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनोमी वाचे प्रतिष्ठित

Sahara.